प्रत्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुस्रोत्रमतो इन्द्रियाणि च सर्वाणि गुरया मा उपनिषद द्वितीय अध्याय के बाईसवें खंड तक कुछ विचार हो गया आगे तेईसवा खंड वंश खंड आरंभ होने जा रहा है टीका में कहते हैं थोड़ा अधिकृत अधिकार अधिकाराणी अंगावबद्धानी उपासना उद्धानी अन्य कर्मों में अधिकारी व्यक्ति के लिए जो अधिकार था उपासना अंगावबद्ध उपासना ज्योतिष को मार यज्ञ करते समय में सामगान का उद्गान उस स्थिति में ओंकार ये अधिकृत अधिकारी मान दूसरे कर्मों में अधिकृत व्यक्ति को अधिकार वाली उपासना थे स्वतंत्र उपासना नहीं कही गई अभी अधिकृत अधिकार आने अन्य कर्मों में जो अधिकृत व्यक्ति है ज्योतिषोमादि कर्म कर रहा है वो उस अधिकारी के लिए अधिकार अधिकृत अधिकार बोलते हैं उसको ऐसे उपाय अंगावबद्ध पद्मानी उपासना अंगावबद्ध उपासना माने कर्म के अंग में जुड़ी हुई उपासना उक्तानी के पूर्व में यहां कह दिया ऐसा कहा संप्रति स्वतंत्र अधिकारी गोचरम ओंकार उपासन बिना तुम आरोपी कहते अब संप्रति माने अब अधुना स्वतंत्र अधिकारी गोचरम स्वतंत्र अधिकारी होगा किसी कर्म करने की आवश्यकता नहीं केवल उपासना ही हो स्वतंत्र अधिकारी को विषय करने वाले जो ओंकार उपासना है आगे ओंकार एवं सर्वम ओंकार एवं सर्वम ऐसा बताएंगे तृतीय मंत्र में बताएंगे ओंकार की उपासना करनी होगी उसके लिए इसी ओंकार की उपासना का विधान करने के लिए आरंभ करते हैं इसके लिए धर्म के तीन कम बताना चाहते हैं मंत्र है त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञो अध्ययनं दानमिति प्रथमः तप एव द्वितीय ब्रह्मचारी कुलवासी तृतीय अत्यन्तम् आत्मानम् आचार्यकुले अवसादयन् सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्मसंस्थो अमृतत्वमेति त्रयो धर्मस्कन्धा दानमिति प्रथमः तपएव तृतीय ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी तृतीय अत्यंतम आत्मा आचार्य कुले अवसादय सर्वे पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्मसंस्थो अमृतत्वेति त्रयो धर्मस्कंधा माने आगे ओंकार की उपासना कराना है तृतीय मंत्र में ओंकार की उपासना बताएंगे द्वितीय मंत्र में ओंकार की प्रशस्ति बताएंगे प्रजापति ने एक बार तीनों वेदों को तपाया इत्यादि लोग को तपाया वेद को तपाया सार निकला क्या अंत में जाके ओंकार सार निकला ऐसा मंत्र आएगा इसलिए ओंकार की सब कुछ है बताएंगे तो धर्म के तीन स्कंद है तीन स्तंभ है धर्म जिसमें टिका हुआ है तीन जिसमें धर्म टिका हुआ है उस तीन शाखा है बड़ी बड़ी शाखा को स्कंध कहते हैं धर्म के तीन शाखा है जिसमें धर्म टिका हुआ है क्या है यज्ञो अध्ययन दान के प्रथम एक यह है या प्रथम शब्द का था तो एक प्रथम हमारे पहला नहीं होगा क्यों यज्ञ अध्ययन और दान यज्ञ करना और अध्ययन करना अपने शाखा के अध्ययन करना और दान देना वेदी के बाहर दान देना वेदी के भीतर का दान तो यज्ञ में आ गया यज्ञ में आ गया है वेदी के बाहर भी यथाशक्ति दान देना यज्ञ वेदी में दान ध्यान देना ही है वो तो यज्ञ शब्द से आ जाता है चलते फिरते भी जो कुछ हो थोड़ा बाहर करते रहे ये तीन ये एक होता है तीन धर्मों के शाखाओं में एक शाखा है माने गृहस्थाश्रमी का धर्म है यज्ञ करना अध्ययन दान आदि आश्रम का निर्देश करता है तप एक द्वितीय कहा दूसरा धर्म का शाखा है क्या है तप तप मानी कृत्र चांद्रायण आदि जो तप होगा यहाँ तप शब्द से बानप्रस्थ लक्षित होता है तपस्या वही करता है बानप्रस्थ और दूसरा यहाँ तप शब्द से केवल आश्रम धर्म मात्र का पालन करने वाले सन्यासी वो भी यहाँ द्वितीय में आएगा क्यों तो ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में थी मुख्य को तो बाद में लेंगे सन्यासी भी दो प्रकार के हैं एक तो ब्रह्म में सम्यक प्रकार से ठीक हो गया है शरीर भाव से ऊपर है एक ऐसा होगा और एक होगा केवल आश्रम धर्म का पालन करके बैठा होगा शरीर बुद्धि है अभी ऐसी स्थिति में तो वो यहाँ द्वितीय में आएगा केवल आश्रम धर्म का पालन करके रहने वाला सन्यासी मैंने शरीर में आत्मबुद्धि है ऐसा और बाणप्रस्थ नपय द्वितीय ये धर्म की दूसरी शाखा है तीसरा है ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी एक ब्रह्मचारी है आचार्य कुले वस्तुम शीलम यश आचार्य कुलवासी आचार्य कुल में ही रहने के जिसका स्वभाव बन गया गृहस्थाश्रम में नहीं आता मैंने उपकुर्बान ब्रह्मचारी नहीं है नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी दो प्रकार के पढ़ने के लिए गए गुरुकुल में दोनों समान गए समान रूप से पढ़ाई की किंतु एक समावर्तन संस्कार करवा करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है वो केवल पढ़ाई के लिए ही गुरुकुल में गया था पढ़ाई पूरी हो गई तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर गया वो भी एक ब्रह्मचारी है उसको उपकुर्बान ब्रह्मचारी कहते हैं और दूसरा ब्रह्मचारी गुरुकुल में तो गए साथ में किंतु पढ़ाई पूरी होने के पश्चात भी गुरुकुल में रहने का स्वभाव बन गया माने गुरुकुल से वापस नहीं होता वहीं रह जाता है जिसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं निष्ठा संबंधी को नैष्ठिक कहा तो ये आचार्य कुलवासी विशेषण लगाया आचार्य कुल में रहना जिसका स्वभाव बन गया ऋणी प्रत्यय है ऐसा ब्रह्मचारी माने नैष्ठिक ब्रह्मचारी तृतीय है वो तो कैसा आचार्य कुल में किस तरह रहता है ब्रह्मचारी कहा अत्यंतम आत्मान आचार्य कुल अवसाद शरीर को सुखा करके कष्ट झेल करके आत्मा माने शरीर शरीर को अत्यंत दंडित करके आचार्य कुल में रहने वाला जो ब्रह्मचारी है वो तृतीय धर्म की शाखा है मैंने एक गृहस्थ आश्रम दिखाया बान प्रस्थ दिखाया और ब्रह्मचर्य आश्रम दिखाया माने बानप्रस्थ द्वितीय में तब से वानप्रस्थ एक आश्रम धर्म मात्र का परिपालन करके रहने वाले सन्यासी भी उसी में है तथे सर्वे एते पुण्यलोका बहुत ये तीनों ही चाहे वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो चाहे बाणप्रस्थ हो चाहे आश्रम धर्म का पालन करने वाला सन्यासी हो चाहे यज्ञ अध्ययन दान करने वाला भी हो तीनों सबके सब सर्वे हेते पुण्यलोका बहुत भवंते पुण्यो पुण्यो लोको ये शांत पुण्य पुण्यलोक वाले बहुरी समाज से पुण्यलोक वो पुण्य लोग नहीं बनते हैं पुण्य लोग वाले होते हैं उनको पुण्य लोग मिलता है उन्हें ब्रह्म लोग मिलता है ब्रह्म संस्थो अमृतत्व एक ही कहा चतुर्थ ऐसा है एक ब्रह्मणी सम्यक स्थित ब्रह्म संस्था ब्रह्म में सम्यक प्रकार से स्थित हो गया जीवत्व बुद्धि समाप्त करके में बुद्धि में पहुंचा हुआ है वो ब्रह्मस्थ होता है ब्रह्म में थोड़ा थोड़ा स्थित तो ब्रह्मस्थ होगा किंतु सम्यक प्रकार स्थित संस्था ब्रह्म में हर प्रकार से ब्रह्म में स्थित है किसी भी हालत में मैं जीव हूं कहता नहीं है मैं ब्रह्म हूं ये भावना में पहुंचा हुआ है वो ब्रह्म संस्थ है जैसे गृहस्थ होता है जैसे ब्रह्म संस्थ ब्रह्म में संभव प्रकार से स्थित वो अमृतत्व होती तो अमरत्व को प्राप्त होगा वो पुण्यलोक को प्राप्त नहीं होता अमर भाव को प्राप्त होगा ब्रह्मशस्त्र अमृतत्व व्यक्ति का जो ब्रह्मशस्त्र व्यक्ति है वो अमृतत्व को एति माने प्राप्त होती प्राप्त करता है यह अर्थ है तो टीका में ये कहा अधिकृत अधिकाराणी अंगापबद्धानी उपासनानी उतानी पूर्व में यही उपासनाएं बताई गई थी अधिकृत अधिकारी अधिकृत अधिकारी वो होता है जैसे समसेना आप प्रणयात पशुकाम गोदोहन गोदोहन है ना पशुकाम ऐसे वाक्य आता है यज्ञ में जो जल का प्रणयन करना इधर उधर करना चम्मच के द्वारा कराएगा किंतु यदि पशु चाहता हो दृष्टफल तो क्या करे गाय जिसमें दोहते हैं उस पात्र के जल से काम करे तो अदृष्टफल तो मिलेगा ही दृष्टफल भी पशु मिल जाएंगे उसको ऐसा वो अधिकृत अधिकार दूसरे में आने पर गोदोहन पात्र विशेष हो गया इस प्रकार यहां भी कर्मांग अभवत्त उपासना चल रही थी स्वतंत्र उपासना नहीं थी अधिकृत अधिकाराणी उपासना नहीं है अंगा भगवतान उपासना नहीं कर्म में अधिकार जो व्यक्ति को प्राप्त था उसके लिए उपासनाएं बताई गई थी अधिकृत अधिकार स्वतंत्र उपासना नहीं थे इस उपासना करने के लिए कर्म करना पड़ता था ज्योतिषोमादि कर्म हो रहा है वह उद्गान उसमें ओंकार उपासना तो अधिकृत अधिकाराणी भगवान उपासना उत्थान ही कहा संप्रति अब स्वतंत्र अधिकारी गोचरम स्वतंत्र अधिकारी को विषय करने वाली उपासना बतानी है यहां कोई कर्म का अंग नहीं कर्म करने की अधिक जरूरत नहीं स्वतंत्र अधिकारी गोचरम गोचरम विषय स्वतंत्र अधिकारी को विषय करने वाले ओंकार उपासना में ओंकार की उपासना बतानी है तृतीय मंत्र में कहेंगे ओंकार एकदम सर्वम ओंकार एकदम सर्वम ऐसे बताएंगे वो बतलाने के लिए उपासना विधा तुम आरभ उसके आरंभ करते हैं भूमिका बनाते हैं कहा भाष्य में कहा ओंकार से उपासना विद्यार्थम कहा ओंकार की उपासना के विधान के लिए मुख्य तात्पर्य ओंकार की उपासना का विधान कर इसको लेकर के भूमिका बना रहे तीन धर्म के शाखा हैं इत्यादि यहां विधान दूसरे मंत्र में बताएंगे संपूर्ण जगत ओंकार में व्याप्त है ओंकार सर्वाभाग व्याप्त इत्यादि बताएंगे तो ओंकार से उपासना विद्यर्थम ओंकार की उपासना के विधान के लिए त्रयो धर्म स्कंधा इत्यादि आरंभ देगा त्रयो धर्म स्कंधा इत्यादि का आरंभ किया जाता है यहां से आरंभ करते हैं नैवम मंतव्यम सामावभूत उदगीतादि लक्षण से ओंकार उपासना फल प्राप्त थे ये नहीं मानना चाहिए कभी भी शाम के अवय बना हुआ जो ओंकार होगा जैसे उदगित उपासना स्वतंत्र ओंकार की उपासना नहीं थी ओंकार की उपासना के लिए शाम का अवयव मान उद्गान कर्म विशेष होगा जहां वहां ओंकार की उपासना होगा ऐसा नहीं मानना चाहिए नहीं वो मंतव्य ऐसा नहीं मानना चाहिए शाम अवयव भूत एवं शाम के अवयव बना हुआ ही जो उद्गीत आदि लक्षण से ओंकार से जो उद्गीत आदि स्वरूप ओंकार है उसी की उपासना फल प्राप्त थे उसी उपासना से फल प्राप्त होता है ऐसा नहीं मानना चाहिए नहीं वो मानता प्रश्न होता तरी फिर कैसे होगा इन पर ही प्रश्न आया तो उत्तर दिया यद सर्वैरपी सामोपासना कर्म भी कर्म विश्च अप्राप्यम फलम तत्फलम अमृतत्व केवलाद ओंकार उपासना प्राप्त ये स्थिति है जो कि संपूर्ण शाम के द्वारा उपा, उपा, उपासना करने से जो फल होगा या सर्वैरपी शाम उपासना जितने भी शाम उपासना बताई गई उससे जो फल मिलना होगा सारे उपासनाओं से कर्म विश्च और कर्म के द्वारा सारे कर्मों के द्वारा जो कर, फल मिलना होगा कर्म विश्च अप्राप्यम वो सबसे अप्राप्त फल जो होगा इन सबसे प्राप्त सारे शाम की उपासना से सारे कर्मों के ऊपर कर्म करने से जो फल होना चाहिए मिलेगा उससे भी जो सबसे प्राप्त न होने वाला फल होगा अप्राप्तम तत्फलम वो फल अमृतत्व क्या है अमरत्व मैंने हम ब्रह्माष्ट में पहुंच जाना तो अमृतत्व है वो फल केवलाद ओंकारात उपासना प्राप्त केवल ओंकार की उपासना से प्राप्त की जाती होता है फिर संपूर्ण शाम की उपासना से जो फल प्राप्त नहीं कर सकता सारे कर्मों से जो फल प्राप्त नहीं होता वो फल क्या है अमृतत्व अमरत्व फल अमर हो जाना शरीर भाव से रहित हो जाना वो फल वह केवल ओंकार की उपासना से प्राप्त करेगा यही बतला रहा है तत्स्तुत्यर्थम साम प्रकरण उसी शिशु ओंकार की ओंकार की स्तुति के लिए प्रशंसा के लिए इस शाम प्रकरण में उसकी उपन्यास किया गया था तद उपास उपन्यास माने तस्य उपन्यास ओंकार को उपन्यास किया रखा है यहाँ ऐसा ये तो तात्पर्य बता दिया अब मंत्र का अर्थ करते हैं त्रय त्रयो धर्म स्कंधा त्रय माने त्रिसंख्या का तीन अवयव को त्रय बोलते हैं तीन संख्या वाले हैं ये तीन है धर्म से कम धर्म से कम धर्म से कम ष्ठी समाज से धर्म से कम धर्म की शाखा धर्म स्कंधा कहा धर्म प्रविभागा धर्म के विभाग तीन है ये अर्थ है धर्म स्कंधा का अर्थ धर्म प्रविभाग धर्म का जो विभाग करते हैं तो तीन प्रकार के पाए जाते हैं क्या है वो तब तक आश्रम लेकर के ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम बानप्रस्थ आश्रम यही है धर्म के साथ ये बताना चाहते हैं केते इत्या कौन है धर्म के शाखा प्रश्न उठा तो कहा कहते हैं यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथमा ऐसा कहा है तीन मिलकर के एक आता यज्ञो माने अग्निहोत्रादि या यज्ञ शब्द का था अग्निहोत्रादि दर्श पूर्णमास आदि अग्निहोत्रादि आदि जितने यज्ञ हैं यज्ञो अग्निहोत्रादि ये कौन करेगा गृहस्थाश्रम इससे लक्षित होगा गृहस्थाश्रम एक धर्म स्कंध है यज्ञो अग्निहोत्र आदि अध्ययन माने सनियम से रिगादेर अभ्यास नियम के साथ किस दिशा में बैठना है किधर मुख करके बैठना है नियम होता है अध्ययन के लिए यानी कि कहीं मसान में अध्ययन नहीं कर सकता दक्षिण मुख करके अध्ययन नहीं कर सकता पूर्वाभिमुख होना होगा मसान में नहीं करना होगा नियम के साथ होना पड़ेगा यह नहीं कि कहीं भी बैठ जाओ अध्ययन करो अध्ययनम सनियम से रिगाधन अभ्यास नियम के साथ रिगादि वेद का स्वशाखा अध्ययन करना क्यों अध्ययन अध्ययन का अर्थ यह है नियमेन सहित सनियम हाँ, तस्य सनियम ऐसा है नियम के सहित हाँ, पूर्वाभिमुख आदि जो नियम होगा एक एक अध्ययन के लिए अध्ययनम सनियम से रिगाधर अभ्यास का नियम के सहित ऋग आदि वेदों का अभ्यास को अध्ययन कहा और दानम तीसरा नंबर में यज्ञों अध्ययनम दानम इति प्रथम ऐसा आया है दानम माने बहिर्वेदी वेदी के बाहर वाला लेना वेदी के भीतर का दान तो यज्ञ में आ गया है यज्ञ करेंगे आप तो दान देना ही पड़ेगा वहां तो उसे यज्ञ शब्द से आ जाएगा वो दान तो या तीसरे जो दान शब्द से अभी आया है यज्ञ में करने वाला दान नहीं वेदी के बाहर को बहिर्वेदी बोलते हैं विद्या वही बहिर्वेदी अव्यवाह समाज वेदी के बाहर माने यज्ञ नहीं कर रहे हैं बाहर चलते फिरते में जो कुछ हो थोड़ा बहुत इसको बहिर्वेदी कहते हैं दानम बहिर्वेदी माने यथाशक्ति द्रव्य संविभागो भिक्षम आणव्य कहा यथाशक्ति द्रव्य का विभाग कर देना विभाजन कर देना किसी का भिक्षम आणव्य भिक्षा मांगने वालों के लिए यम देही कोई बोलता हो तो जो कुछ है अपने पास दो जो हो सके इसको दान कहा इति ऐसा प्रथमो धर्म ये जो है प्रथम है धर्म धर्म स्कंध एक है धर्म स्कंध ये गृहस्थ समवेतत्व तन निर्वर्तक निर्वर्तक न गृहस्थ न निर्दिश्यते कहा गृहस्थ के समवेत है ये समवाय संबंध से गृहस्थ में पाए जाते हैं तीनों यज्ञ वही करेंगे अग्निहोत्र आदि रिगादि अभ्यास भी उनका ही होगा अच्छा और ये दान यथाशक्ति दान देना भी उन्हीं के पास होता है वही देते हैं गृहस्थ समवेतत्व गृहस्थ संबंध होने से तन निर्वर्तक न गृहस्थ दृश्य उनका निर्माण करने वाले गृहस्थ के द्वारा यज्ञ आदि का निर्वर्तक जो होगा संपादक गृहस्थ उसी के द्वारा निर्देश होता है प्रथम माने एक या प्रथम शब्द करते एक लेना क्यों आश्रमों में प्रथम गृहस्थ नहीं होता ब्रह्मचारी होगा या प्रथम शब्द आया हुआ है यहाँ प्रथम शब्द का अर्थ पहला नहीं लेना क्या लेना एक तीन में से एक ये धर्म का काम है प्रथम शब्द का अर्थ एक करना नहीं तो विपरीत होगा प्रथम का गृहस्थाश्रम प्रथम कैसे एक बता रहे प्रथम माने एक अर्थ प्रथम शब्द का अर्थ एक तीन में से एक ये धर्म का स्कंध है शाखा है यह समझना पहला नहीं समझना इसको पहला तो ब्रह्मचारी होगा उसके तीसरे नंबर में रखा है ब्रह्मचारी को इसलिए एक समझना एक भाष्यकार प्रथमा माने एक इत्यर्थ प्रथमा का अर्थ एक तीन में से एक है और द्वितीय तृतीय श्रवणार्थ न आद्यार्थ ये कहते हैं आगे द्वितीय तृतीय सुनाई पड़ा है इसलिए क्या है प्रथम प्रथम अर्थ नहीं लेना है प्रथम शब्द का अर्थ एक लेना आगे द्वितीय तृतीय ऐसा आया होता है तप एव द्वितीय कहा आगे तप ही द्वितीय धर्म का शाखा है धर्म धर्म का शाखा माने तप शब्द का अर्थ तप से होता है प्रस्थ लक्षित होता है प्रस्थी और केवल आश्रम धर्म का परिपालन करके रहने वाले सन्यासी शरीर में अभी आत्मबुद्धि है ऐसे जो सन्यासी हैं ऐसे उसको कहा द्वितीय शब्द से लेंगे ये कहना चाहते हैं तप द्वितीय तप यदि तब क्या है कृष्ण चांद्रायण आदि कृष्ण चांद्रायण जो व्रत होते हैं तप है तदवांश तप तत्तापसा उस कृषत्र अंद्राणी वाला को तद्वान बोला ऐसा वाला तापस परिप्राण चाहे तापस हो माने ता, ता, तापस शब्द से वानप्रस्थ अथवा परिप्राण सन्यासी आश्रम धर्म का परिपालन करने वाली सन्यासी केवल इतने मात्र में रह रहा है शरीर बुद्धि है जिसमें बैठा हुआ है ऐसे सन्यासी अच्छा न ब्रह्मस्थ ब्रह्म में सम्यक प्रकार से ठीक हो गया होगा उसको नहीं लेना है हम्म, द्वितीय में तपशब्द से वहां तपस्या आदि कुछ नहीं होती वहां तो न ब्रह्म संस्था आश्रम धर्म मात्र संस्थो ब्रह्म संस्था नहीं है केवल आश्रम धर्म में स्थित को परिप्राट का है यहाँ का परिप्राट शब्द का ऐसा है परिप्राट माने न ब्रह्म संस्था हाँ, आश्रम धर्म मात्र संस्था केवल आश्रम धर्म का पालन करके बैठा हुआ है संन्यास आश्रम का नियम है उसको पालन करके बैठा है शरीर में आत्मबुद्धि है ऐसे सन्यासी द्वितीय में आएगा वो तप के साथ मान बाम प्रथ के साथ आएगा ये बताया क्यों कहते हैं जो ब्रह्म संस्था है मुख्य सन्यासी जो होगा वो ब्रह्म संस्था शरीर भाव से ऊपर उठा हुआ तो ऐसे जो ब्रह्म भाव में पहुंचा हुआ सन्यासी होगा उसको तो ब्रह्म संस्थो अमृतत्व बेती ऐसा आया उसके लिए तो कोई पुण्यलोक के श्रवण नहीं है क्या है उसके अमरत्व की प्राप्ति बताई है ब्रह्म संस्था ब्रह्म संस्था तो अमृतत्व श्रवणा ब्रह्म संस्थक को तो अमृतत्व का सुनाई पड़ता है कोई सर्वे ये पुण्य लोग भगवंत में नहीं आता हो इसलिए वो अलग रखा है उसको इसलिए मुख्य सन्यासी नहीं है परिभ्राण शब्द का हाँ, अर्थ गौण सन्यासी आश्रम धर्म का पालन करके बैठा हुआ है शरीर में आत्मबुद्धि है ऐसा द्वितीय धर्म स्कंध ये द्वितीय धर्म स्कंध है ये मानी वाहन और गौण सन्यासी मुख्य सन्यासी में अब तृतीय बताना चाहे ब्रह्मचारी आचार्य कुल्य वस्तु शीलम अश्यति आचार्य कुलवासी ब्रह्मचारी है दो ब्रह्मचारी होते हैं एक तो कुछ दिन आचार्य कुल में रहता है उसका स्वभाव नहीं आचार्य कुल में बैठना कुछ दिन के लिए बैठा तो में गिरफ्तार में आएगा उपकुर्बान जब तक पढ़ाई है तब तक बैठेगा पढ़ाई पूरी हो गई गिरफ्तार में चला जाएगा उसको शील अर्थ में प्रत्यय नहीं होगा ऋणी प्रत्यय नहीं होगा उसके लिए इसलिए विशेषण लगा दिया ब्रह्मचारी का विशेषण आचार्य कुलवासी ऐसा कहा है आचार्य कुल वस्तुम शीलम यश्य आचार्य कुल में रहना जिसका स्वभाव बन गया स्वभाव ही हो गया अब गृहस्थाश्रम नहीं जाना उसने तो ऐसा ब्रह्मचारी है मैंने जिसको आज नैष्टिक ब्रह्मचारी बोलते हैं आचार्य कुल वस्तुम शीलम अशैती आचार्य कुलवासी ऐसा ब्रह्मचारी किंतु आचार्य कुल में बैठ के खा पी के सो जाता है इतना नहीं कैसा रहता है वो हाँ। अत्यंतम यावत आत्मान नियम आचार्य कुल अवसाद निक्षेप देहम एक तृतीय तरह अत्यंतम मन यावत जीवन पूरे जीवन गुरुकुल में है वो यावत जीवन आत्मान मान शरीरम इस शरीर को यावत जीवन आत्मान आत्मा मन शरीर इस शरीर को नियमैर आचार्य कुल अवसाद छपाई नियमों के द्वारा जो ब्रह्मचर्य आश्रम का जो नियम होगा उस नियम के द्वारा आचार्य कुल में क्षपण करता हुआ पूरा शरीर पूरा बिताता हुआ जो रहता है हम शरीर आयु पूरा करता हुआ ब्रह्मचारी ऐसा वो तृतीय कर्मस्कंध होता है और दूसरा वाला तो दूसरा ब्रह्मचारी तो ये तृतीय में नहीं आया क्यों तो आगे जाके आश्रम में वो यज्ञों अध्ययन दान में चला जाएगा वो भगवान जो होगा क्यों पढ़ाई के लिए गुरुकुल में है उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा तो उस एक जो अध्ययन दानम प्रथम में आ जाएगा वो तो उसमें भागीदार होगा उपकृपा अच्छा कहते हैं अत्यंतम इत्यादि विशेषण हैं कई विशेषण लगा दिया ब्रह्मचारी को अत्यंतम आत्मान गुरुकुले आचार्य कुले अवसादयन ऐसा विशेषण है उसके लिए तो अत्यंतम इत्यादि विशेषणात् नैष्ठिक गम्य थे ये जो ब्रह्मचारी कौन होगा नैष्ठिक ब्रह्मचारी जाना जाता है उपग्रवाण नहीं क्यों तो कहा उपग्रवाण से स्वाध्याय ग्रहणार्थत्व उपग्रवाण गुरुकुल में तब तक रहता है स्वाध्याय करने तक तो उसके लिए बासी जो शब्द है आचार्य कुल बासी ऋणी प्रत्यय नहीं होता ऋणी प्रत्यय स्वभाव अर्थ शील अर्थ में होता है वहीं रहने का स्वभाव जिसका बन गया ये तो वहां रहने का स्वभाव नहीं है पढ़ाई के निमित्त बैठा पढ़ाई पूरे गृहस्थाश्रम जाता है उपग्रवाण नहीं होता है उपग्रवाण से स्वाध्याय ग्रहणार्थत्वाद उपग्रवाण को तो स्वाध्याय शब्द से ग्रहण हो गया वहां हाँ। यज्ञों अध्ययन दान में अध्ययन में आ गया वो ये कहा न तुम ब्रह्मचर्य वो जो स्वाध्याय के निमित्त से बैठा हुआ है इतने मात्र ब्रह्मचारी से पुण्य लोग नहीं मिलेगा उसको उसको क्या करना पड़ेगा यज्ञ अध्ययन दान सब करना पड़ेगा आगे तब पुण्य लोग मिलेगा उसको केवल गुरुकुल में रहने मात्र कुछ दिन रहने मात्र से पुण्य लोग की भागीदार नहीं होगा वहां वो तो गृहस्थ आश्रम में जाएगा फिर गृहस्थाश्रम के कर्म करेगा ये क्या अध्ययन दान तीनों करेगा तब होगा ये बताया उपकुर्बाण से स्वाध्याय ग्रहणार्थत्व तो स्वाध्याय के लिए ग्रहण है वो इसलिए न पुण्य लोकत्व उसके लिए पुण्य लोग नहीं वो तो वहां पर स्वाध्याय के लिए गया था उसको फल मिल गया इतना ही होगा पुण्य लोग नहीं मिलेगा इतने मात्र से इतने दिन के ब्रह्मचर्य से पुण्य लोग नहीं मिलेगा तो गृहस्थाश्रम के कर्म करना पड़ेगा उसका अब ये तीनों आश्रमों को ले जाते हैं सर्वे भी ये त्रयो के आश्रम सर्वे ये थे पुण्यलोका भवंती सभी ये तीनों आश्रम जो है यथोक्त धर्म ही पुण्यलोका भवंती इन धर्मों के द्वारा अपने अपने आश्रम के धर्म का पालन करने से जिस आश्रम के लिए यथोक्त धर्म जैसा धर्म बताए जिसके लिए पुण्यलोका भवंती कहा तो पुण्यलोक बने क्या पुण्यलोक बन जाते हैं वो क्या पुण्यलोक हो जाते हैं कहते नहीं नहीं बहुग्री समास करना कर्मधारे समाज मत करना बहुगरी करना पुण्यो लोगो ये शांते पुण्य लोग पुण्य लोग जिनको हो मिले उसको पुण्य लोग कहा जिनका पुण्य लोग है ऐसे व्यक्ति को पुण्य लोग बोला है ना कि पुण्य लोग बन जाते हैं बात नहीं है पुण्य लोग वाले होते हैं ये आपको लेना है ठीक पुण्यो लोको ये शांते इमे पुण्यलोक माने आश्रम लोग होती पुण्यलोक ऐसे आश्रम हो जाते हैं अवशिष्ट तो एक रह गया क्या रह गया ब्रह्म संस्कार हाँ, तीनों आश्रम की चर्चा होगी माने उपक्रमान तो गृहस्थ आश्रम में आ जाएगा वो पढ़ाई भर के लिए गया हुआ है उतने मात्र से उसको ब्रह्मलोक नहीं मिलना है आगे गृहस्थ आश्रम के कर्म करेगा वहां से होगा अच्छा। अवशिष्ट बच गया एक ब्रह्म संस्था तीन आश्रम ही हो गए मान नैष्टिक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी में आ गया और गृहस्थ आश्रम को यज्ञ अध्ययन दान में ले लिया तप एवं अभी में प्रस्ताव और के गौण सन्यासी जो केवल आश्रम धर्म का पालन करके रहने वाले सन्यासी आ गए तीनों आश्रम तीनों आश्रम में चारों मिल गई अवशिष्ट वस्तु एक बचा हुआ है क्या बचा हुआ ब्रह्म संस्था बचा हुआ है ब्रह्मणी सम्यक स्थित है ब्रह्म संस्था अवशिष्ट वस्तु जो अनुक्त ये तीनों आश्रम में जिसकी चर्चा नहीं आई अनुक्त है बचा हुआ है परिभ्राट ऐसा एक सन्यासी है मानी ज्ञानी सन्यासी जो तो ज्ञानी सन्यासी है ऐसा ब्रह्म संस्थो हो ब्रह्मणी सम्यक स्थित ब्रह्म में सम्यक प्रकार से बैठा हुआ किसी भी हालत में देह बुद्धि नहीं होती उसकी हम ब्रह्मास्म यही बुद्धि में है वो ब्रह्म संस्थ है सम्यक से सम भी लगा उपसर्ग केवल ब्रह्मस्थ नहीं बोला गृहस्थ जैसा होता है ना वहां सम नहीं लगता ब्रह्म में सम लगा के बोला संस्था सम्यक स्थित संस्था जो चतुर्थ होता है परिव्राट ब्रह्मसस्तो ब्रह्मणी सम्यक स्थित स्व अमृतत्व पुण्यलोक विलक्षणम उसको तो ये मिलेगा अमृतत्व ये कहा वो तो अमृतत्व को प्राप्त करे अमरत्व भाव को प्राप्त करेगा कैसा तो पुण्यलोक से विलक्षण अमृतत्व है पुण्यलोक तो कुछ दिन के बाद नाश होकर वापस भी हो जाता है किंतु यदगत्वा न निवर्तनते तब धाम परम ऐसा ऐसा अमृतत्व है वो पुण्यलोक का पुण्यलोक विलक्षणम अमृतत्व पुण्यलोक से विलक्षण जो अमृतत्व है अमरत्व है अमरण भावम मरण भाव जहां नहीं है मरना नहीं पड़ेगा वह आगे अमरण भावम अमरत्व जो होगा आत्यंतिक वेते थोड़े से दिन के लिए नहीं आत्यंतिक होगा निरंतर सर्वदा के लिए प्राप्त करता है वो इति नापेक्षिकम देवादि अमृतत्वत कहा जैसे देवादि को भी अमृत मिलता है आपेक्षिक अमृत है हमारे अपेक्षा थोड़ा अच्छा खान पान मिलेगा इसलिए अमर हो जाए नाम ऐसा अमरत्व नहीं हो अपेक्षित अमृतत्व ने अत्यंत अमृतत्व ये कहा पुण्यलोका पृथक अमृतत्व से विवाह करना पुण्यलोक से पुण्यलोक कहने से देवादि लोग आ ही गए तो वहां भी अमृतत्व मिल ही जाता थोड़ा थोड़ा किंतु अपेक्षित अपेक्षिक अमृतत्व तो उनको भी है पुण्यलोक से इसको पृथक अमृतत्व कहा पहले सर्वे ये पुण्यलोका भवंती बोल दिया तीनों आश्रमों के लिए वहीं अमरत्व प्राप्त है अपेक्षित अमरत्व किंतु इसको अलग करके कहा इसलिए क्या होगा निरपेक्ष अमृतत्व प्राप्त करें सापेक्ष नहीं पुण्यलोकात पृथक अमृतत्व विभाग करना पुण्यलोक से अतिरिक्त अमृतत्व का विभाग करके स्मृति ने कहा है ब्रह्मशास्त्र अमृतत्व में भी तो इससे सिद्ध होता है कि आत्यंतिक अमृतत्व प्राप्त करेगा देवताओं के जो अमृतत्व प्राप्त होता है आगे उसके अमृतत्व के अभाव के प्राग अभाव भी बैठा होगा ऐसे होगा आगे अमृतत्व तो नाश होने वाला है दूसरे का प्रागभाव बैठा होगा मृतत्व का प्रागभाव बैठा होगा क्या होगा अमृतत्व तो नाश होना मृतत्व आएगा देवताओं को तो ऐसा अमृतत्व प्राप्त होता है वह आत्यंतिक नहीं है आत्यंतिक लगने से क्या मृतत्व को प्रागभाव न हो ऐसा अमृतत्व ऐसा प्राप्त होता है ये कहा ठीक है उपासना उपासनाधिकारे यथोक्त स्वतंत्र उपासना विधान है को अभिप्राय ये कहते हैं अंगावबद्ध उपासना का अधिकार चल रहा था प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय भी अभी तक वही चल रहा था किसी कोई कर्म हो रहा है उसमें उद्गान कर्म हो रहा है उस स्थिति में ओंकार आदि की उपासना बताई गई थी तो अंगावबद्ध उपासना के अधिकार में स्वतंत्र उपासना नहीं थी पहले यथोक्त स्वतंत्र उपासना ये जो अब कहने वाली जो स्वतंत्र उपासना है ओंकार उपासना बताने को अभिप्राय ऐसा अभिप्राय क्या अभिप्राय है प्रश्न आया श्रुते को अभिप्राय इतिहास में श्रुति का क्या अभिप्राय होगा तो उपासना चल रही थी अभी तक अब एकाएक स्वतंत्र उपासना कहने जा रहे हैं इसमें क्या अभिप्राय श्रुति का है प्रश्न उठा तो इसको उत्तर में कहा कि नैवम मंतव्यम सामवभूत उद्गीताभिलक्षण से ओंकार उपासना फलम प्राप्त ये नहीं मानना कि शाम के अवय बना हुआ जो ओंकार की उद्गित की उपासना से ही फल प्राप्त होगा ये नहीं समझना है स्वतंत्र उपासना से भी और फल बड़ा होगा हाँ, सारे शाम की उपासना करने से जो फल होगा और सारे कर्म से जो फल होगा उससे भी अधिक फल होता है स्वतंत्र उपासना से ओंकार की उपासना में शक्ति है ये बोलना चाहते हैं ठीक है न स्वतंत्र से उपासना दीदी बता रहा अब अवय भूत एवं कहा था एवं कहा था स्वतंत्र का स्वतंत्र का उपासना से फल नहीं होगा ऐसा नहीं मानना चाहिए एक कहा ठीक है प्रथम तरी मंतव्य फिर कैसे मानना चाहिए इति अपेक्षा महा किम तरी प्रश्न आया तो कहा यद सर्वैरपी सामोपासनई कर्म विश्च अप्राप्यम तत्फलम अमृतत्व केवलात ओंकार उपासना प्राप्त ऐसा मानना चाहिए सारे शाम की उपासना से जो फल प्राप्त नहीं कर सकता सारे कर्मों से जो फल प्राप्त नहीं होगा ऐसा फल अमृतत्व फल तो जो फल है वो फल केवल ओंकार की उपासना से प्राप्त होता है ये मानना है ठीक है परिभाष्य में तत्वुक्त्यर्थम साम प्रकरण तदुपन्यासका इसे ओंकार की प्रशंसा के लिए स्तुति के लिए साम प्रकरण में यहां उसकी उपासना के उपन्यास कर दिया एक आगे त्रयो धर्मस्कंधा में कहा था त्रिसंख्या का संख्या में तीन है वो धर्म कंधा धर्म स्कंदा ष्टी समाज है धर्म की स्कंद शाखा धर्म प्रविभाग का धर्म विभाग तीन है कहा केते कहा यज्ञो अग्निहोत्रादि अध्ययनम सनियम से ऋगातिर अभ्यास कहा था तो अध्ययन शब्द का अर्थ नियम के सहित ऋगादि ऋगादि वेद का अभ्यास करना तो नियम क्या है सनियम ये कहा एक टीका में बोलते हैं सनियम से प्रामुखत्वादि नियम सहित केवल जहां चाहे वहां बैठना नहीं पूर्वाभिमुख होकर के करना होगा स्नान आदि करके वेद पाठ करना होगा ऐसे नहीं कि कभी भी वेद पाठ कर मशान में नहीं करना होगा मशान भूमि में बहुत नियम होता उसका तो सनियम से मैंने मुखत्व आदि नियम सहित ऐसे नियम को पालन करने वाला पुरुष का अभ्यास और सनियम से रिगा अभ्यास का अभ्यास शब्द का अर्थ क्या लेना है अभ्यास माने क्या यहाँ कहते अभ्यास का पांच अर्थ होता है बोलते है कहा अभ्यास माने स्वीकरण पहले तो गुरु से प्राप्त करना स्वीकार करना दूसरा विचार करना तीसरा उसका जप करना मंत्र का चतुर्थ होगा शिष्यभ्यो दानम जो आपने पढ़ा है मंत्र लिया पाया है शिष्यों को देना पढ़ाना और पांचों होता है आवृत्ति से बार बार आवृत्ति करना ये पांच होते हैं अभ्यास अभ्यास शब्द का तो ये होता है क्या क्या स्वीकरणम एक स्वीकार करना माने गुरु से प्राप्त करना और दूसरा होता है विचार करना उसका मंत्र का और तीसरा होता है जप करना माने मंत्र का जप करना और, और चतुर्थ होता है शिष्य भी दानम जैसे गुरु से हमने प्राप्त किया शिष्यों को देना देना भी होगा यह भी अभ्यास में आएगा और आवृत्ति करना ये पांच होते हैं अभ्यास शब्द का पांचों मिला करके अभ्यास पूरा होता है होता है पंचविधा अभ्यास पंचविधा अभ्यास पांच प्रकार का है आगे दान शब्द का अर्थ बहिर्वेदी बोला था इसका अर्थ करना चाहते हैं वेद्याम यदीयते तस्य ज्ञानगत्वा पृथक फलवत्व नास्ती थी मनमानो विशिष्ट वेदी में जो दिया जाता है यज्ञ करने पर जो दिया जाता है ब्राह्मण को वो तो यज्ञ शब्द से आ गया वो दान जो हुआ वो तो यज्ञ शब्द में आ गया ये कहते हैं वेद्या में दियते यज्ञ मंडप में जो दान दिया जाता है तस्य यज्ञांग तो यज्ञ के अंग ही हो गया तो यज्ञ शब्द से कथित हो गया वो उस दान तो इसलिए पृथक फलवत्व नाती उस दान का अलग फल नहीं होता इति मनमानो ऐसा मानते हो विष्णु विशेषण लगाते हैं भाष्यकार बहिर्वेदी कहा दान का बहिर्वेदी यथाशक्ति द्रव्य विभाग यज्ञ नहीं कर रहे अभी आप चलते फिरते में हैं जो अपने शक्ति के आधार पर कुछ द्रव्य का विभाजन कर देगा इसका नाम दान यज्ञ में तो देना ही पड़ेगा वो तो यज्ञ भूत यज्ञ का अंतर्गत ही हो गया दान तो गृहस्थे न तदात्मना इत्यर्थ गृहस्थेन कहा था उसके अर्थ करते हैं गृहस्थ समवे तत्व तम निर्भर तत्व निर्वर्तन गृहस्थेन निर्देशित कहा था मैंने गृहस्थ रूप से निर्देश किया गया तदात्मना में गृहस्थ रूपेण कथम गृहस्थ से प्राथम्यम न तथात्वात आशंका यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथम ऐसा कहा तो गृहस्थाश्रम में कैसे प्राथम्य होगा प्रथम ये कैसा हो गया एक अध्ययन दान ये गृहस्थाश्रम में होना अग्निहोत्र आदि और प्रथम कैसे प्रथम तो ब्रह्मचारी होना चाहिए आश्रम में ये संग्रह है प्रथम गृहत से प्राथम्यम गृहस्थ को प्रथम कैसे बोल दिया प्राथम्य धर्म कैसे आएगा गृहस्थ में ब्रह्मचारी ना तथा प्राथम्य तो ब्रह्मचारी में होगा प्रथम आश्रम है वो इस शंका करके कहा प्रथम शब्द का अर्थ एक इत्यर्थ भाष्यकार ने कह दिया प्रथम है तीन में से एक ऐसा अर्थ करना इसको प्रथम शब्द का पहला नहीं पहला तो ब्रह्मचारी होगा या तृतीय मूल्य जाके रखा उसको इसलिए एक समझना या प्रथमा द्वितीय तृतीय का अर्थ एक एक ऐसा समझना तीन में से एक ऐसा समझते थे उक्त व्याख्या ने वाक्य शेष से गमगतवाद प्रथम शब्द का अर्थ एक कहने में यह व्याख्या की भाषिका है उसे वाक्य शेष गमक होता है आगे द्वितीय तृतीय शब्द आएगा एक द्वितीय तृतीय तभी तो होगा क्या होगा प्रथम ऐसा प्रथम का अर्थ एक करेंगे तो एक द्वितीय तृतीय आगे के बाद के साथ संबंध होता है उसका ठीक है अच्छा द्वितीय इत्यादि कहा भाषा में द्वितीय तृतीय तृतीय श्रवणात् न आद्यर्थ प्रथम शब्द का अर्थ आद्य नहीं करना एक करना एक कहा तप एव द्वितीय भाषा में कहा तप एव द्वितीय तप इति तप कौन सा तप लेना कहते कृत्र चांद्रायण आदि एक महीने तक जौ के आटा खाने का होता है चांद्रायण व्रत किंतु वो जौ के आटा भी इस तरह से खा जाए पहले गाय को जौ खिलाया जाए फिर गाय के गोबर में जो निकलेगा उसको धो धहा करके कुट पीस करके जो फिर खाया जाए वो कृष्ण चांद्रायण जाए जौ के आटा को इस तरह से खाए बना के खाना एक महीने का व्रत होगा वो भी नियम के साथ खाना है शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में घटाना बढ़ाना करके चंद्रमा की कला में बढ़ाना है शुक्ल पहले कृष्ण पक्ष में घटा दी जाए और शुक्ल पक्ष में बढ़ाता जाए ऐसे तो मान पूर्णमासी के बाद के जो कृष्ण पक्ष के अमावस्या से शुरू करके पूर्णमासी में ले जाकर पूरा करना होगा ऐसा एक महीने का व्रत होता है उसको चांद्र कृत केवल जव के आटा ही खाएगा पीस करके वो चांद चांद्राण व्रत और गाय को खिला करके गोबर में आया हुआ धो करके बना के खाता हो तो कृत चांद्राण हो जाएगा ऐसा व्रत है ऐसे ऐसे व्रत मैंने शरीर से काय शुद्धि के लिए ऐसे ऐसे व्रत करते थे हमारे पूर्वज तो तप माने कृत चांद्रायण आदि तदवान तापस ऐसे तप करने वाले को तापस बोलेंगे बात दोनों में से कोई एक है चाहे तापस है चाहे सन्यासी है सन्यासी गौण सन्यासी शरीर में आत्मबुद्धि है आश्रम धर्म का पालन करके रहने वाले की तप शब्द उनको भी तप करना है ऐसे सन्यासी ठीक है कहते हैं प्राथम में वेव प्रथम शब्द से नार्थो हो या प्रथम शब्द का अर्थ प्राथम्य नहीं है यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथम ये प्रथम शब्द का अर्थ प्राथम्य नहीं है अर्थ ब्रह्मचारी प्राथम्य प्रसिद्ध विरोधाद है ब्रह्मचारी में प्राथम्य प्रसिद्धि है इसलिए प्रथम शब्द गृहस्थ में दिख रहा है तो इसलिए उसका अर्थ नहीं समझा प्रथम एक समझ रहा उसका अर्थ नाद्यार्थ बोल दिया कितृक परिवार गृह थे तथा कहते हैं यहां कौन से परिवार लिया जाएगा तप शब्द के द्वारा एक तो बावन होगा दूसरा परिप्राट शब्द दिया कौन सा परिप्राट मुख्य सन्यासी है कौन सन्यासी है प्रश्न आ गया दृप अत्र परिवार थे तथा न ब्रह्म संस्थ जो मुख्य सन्यासी है ब्रह्म में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ वो इसमें तप शब्द में नहीं आएगा वो तप द्वितीय में नहीं आता न ब्रह्म संस्थ ऐसा बोलते मानप्रस्थ ग्रहण मुख्य अमुख्य से परिप्राजो या बानप्रस्थ जो ग्रहण किया है तप शब्द में या अमुख्य सन्यासी को भी ग्रहण करने के लिए प्रदर्शन के लिए कहा बानप्रस्थ ग्रहण जो बानप्रस्थ का ग्रहण है वह <clears throat> तप शब्द से लिया गया जो बानप्रस्थ ग्रहण अमुख्य से परिप्राज प्रदर्शनार्थ अमुख्य जो परिप्राज होगा मुख्य नहीं है केवल आश्रम धर्म का पालन करके रहने वाला सन्यासी उसको भी यहाँ प्रदर्शन करने के लिए तप में ले लिया बानप्रस्थ में ले लिया कहा ब्रह्मचारी इत्यादि वाक्य से नैष्टिक विषयत्व विशेषण सामर्थ्य दर्शयती ब्रह्मचारी शब्द आया हुआ है ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी ऐसा है वहां ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं विशेषण लगा दिया आचार्य कुलवासी विशेषण है वहां वासी में जो ऋणी प्रत्यय है वो शील अर्थ में है आचार्य कुले वस्तु शीलम अश्य आचार्य कुलवासी माने आचार्य कुल में ही पूरे जीवन काटने का स्वभाव जिसका बन गया केवल पढ़ाई भर के लिए नहीं पूरे जीवन रहने का हो गया आचार्य अच्छा, गुरुवास अच्छा। और भी है अत्यंतम आत्मान आचार्य गुरुकुले अवसादयन ऐसा आया शरीर को अत्यंत कष्ट देता हुआ रह रहा है तपस्या मेरे जीवन में कष्ट देकर बैठा हुआ गुरुकुल ऐसा ब्रह्मचारी तो है ये विशेषण ऐसा है ये एक ब्रह्मचारी इत्यादि वाक्य से नैष्ठिक विषय तुम विशेष नैष्ठिक को ले जाता है ब्रह्मचारी शब्द से क्यों जो विशेषण के सामर्थ्य से जो जो विशेषण आगे है वो विशेषण उपकुर्वाण में नहीं करता वैष्टिक विशेष को विशेष करता है कहा अत्यंतम इत्यादि कहा अत्यंतम इत्यादि यावत जीवम आत्मान नियम आचार्य कुल अवसादन छपयन कहा यावत अत्यंत मानी यावत जीवन अपने शरीर को नियम के द्वारा आचार्य कुल में छपित करता हुआ रहने वाला ब्रह्मचारी नष्ट ब्रह्मचारी ठीक अनुगत अथ शंका है अथ उपकुर्बाण से अत्र ब्रह्मचारित्व अविशेषात किमित उपादान मूलभेद उपकुर्बाण में तो ब्रह्मचारित्व तो धर्म तो उसमें भी है जैसे नैष्टिक में ब्रह्मचारित्व तो धर्म है वैसे उपकुर्बाण में भी ब्रह्मचारित्व तो अविशेष समान है तथा माने ननु अर्थ में है शंका में है उपकुर्बाण से अत्र इस मंत्र में ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी इत्यादि में ब्रह्मचारी तो अविशेषात ब्रह्मचारी तो समान है होने से किमित उपादान न भवे फिर उसका ग्रहण क्यों नहीं होगा उपग्रवाण का ये शंका आ गई थी कहा उपग्रवाण से स्वाध्याय ग्रहणार्थत्व तो आचार्य को लिए बैठने के उद्देश्य से नहीं गया हुआ वो तो स्वाध्याय के लिए गया हुआ स्वाध्याय ग्रहणार्थत्व न पुण्यलोकत्व ब्रह्मचर्य केवल ब्रह्मचारी से, से पुण्यलोक नहीं मिलेगा उसको उत्तम ब्रह्मचारी से उसको तो आगे फिर क्यों अध्ययन दान वो करना पड़ेगा आगे ठीक है नो ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचर्य को न श्रूयते तथा ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य के द्वारा जो ब्रह्मचर्य व्रत है उसके द्वारा पुण्यलोक नहीं सुनाई पड़ता है तब कहते हैं सर्वे ये थे पुण्यलोक अब तीन आश्रम की चर्चा हुई हाँ, तो बोल दिया सर्वे ये थे बहुवचन से प्रयोग किया सबके सब ये पुण्यलोक के भागीदार होते हैं ब्रह्मचारी भी पुण्यलोक के भागीदार होता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी कथम आश्रमीणाम पुण्यलोकत्व विशेष विशेष बताओ तदात्मकत्व उचित कहते हैं आश्रमी जो तीन आश्रमी हैं ब्रह्मचर्य गृहस्थ बानप्रस्थ या संन्यास तीन है ये तो पुण्यलोक विशेष बताओ ये पुण्यलोक विशेष वाले होते हैं पुण्यलोक वाले होते हैं कैसे वहां पुण्यलोका भवंती कैसे पुण्यलोक बन जाते हैं कैसे बोल दिया ये सर्वे ये थे पुण्यलोका भवंती अरे पुण्यलोक वाले होते हैं बोलना चाहिए श्रुति ने कैसे पुण्यलोका भवंती माने इतने कष्ट करने के बाद लोग बन जाते हैं ये पुण्य लोका भवंती ये कैसे बोला मान कर्मधारे समाज के हिसाब से प्रश्न है उत्तर देते हैं बहुग्री से क्या है पुण्यो लोको ये शांति पुण्य लोक जिनका पुण्यलोक है उनको पुण्यलोक कहा जा नहीं कि वो पुण्यलोक बन जाते हैं बात नहीं पुण्यलोक वाले हो जाते हैं यह अर्थ है पुण्यो लोगो ये शांत ते इमे पुण्यलोक आश्रम भवंती इत्यादि टीका में आश्रमेशु प्रदर्शमानेशु किम परिभ्राट मुख्यो न प्रदर्शते तथा आश्रम ही जब दिखाई प्रदर्शन किया जा रहा है स्थिति में तो किम परिभ्राट मुख्यो न प्रदर्शित जो मुख्य सन्यासी उसका यहां प्रदर्शन क्यों नहीं किया सर्वे ये पुण्य लोका भगवती के मुख्य सन्यासी है ब्रह्मशास्त्र को क्यों नहीं दिया शंका आ गई तब उत्तर देते हैं अवशिष्टस्तु जो तीनों आश्रम में नहीं कहा गया तीनों माने चारों आ चुके हैं तप शब्द में सन्यासी भी आया है एक अपरिपक्व सन्यासी अवशिष्ट अस्तु आश्रम का जो अवशेष बचा हुआ है एक अनुक्त तीनों आश्रम में जिसका नाम नहीं लिया परिप्राण ऐसा जो परिप्राण है सन्यासी है मुख्य सन्यासी शरीर भाव से ऊपर है ऐसे जो सन्यासी है ब्रह्म संस्थो ब्रह्मणी सम्यक स्थित है वो ब्रह्म में ही हर प्रकार से स्थित है शरीर बुद्धि में नहीं है आत्मबुद्धि में बैठा हुआ है जैसे जो सन्यासी है स सो अमृतत्व वो अमृतत्व को प्राप्त करता है मैंने पुण्यलोक विलक्षण अमृतत्व कैसा अमृतत्व है पुण्यलोक से विलक्षण अमृतत्व है अमरण धर्म अमरण भाव कहा मान अमरणत्व अमरण भाव त्व अमर अमर भाव को प्राप्त करता हूं आत्यंतिकम ये थी अमरण भाव आत्यंतिक इनको भी अमृतत्व मिलता है पहले वाले को भी किंतु आपेक्षिक मिलेगा और ये ब्रह्मशास्त्र को आत्यंतिक अमृतत्व मिलेगा न आपेक्षिकम देवादि अमृतत्व जैसे देवादि भी अमर होते हैं ना किंतु आपेक्षिक है कुछ दिन के बाद फिर मृत हो जाते हैं वो मर्तत्व आता है उनमें मृतत्व आता है पुण्यलोका पृथक अमृतत्व से विवाह कर लाभ का क्यों पुण्यलोक से अलग या अमृतत्व का कथन किया ब्रह्मशास्त्रो अमृतत्व में ऐसा बोला ठीक है कुटु ही पुण्यलोक वैलक्षण अमृतत्व कहते हैं ये जो ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में थी करके अमृतत्व का कथन किया पुण्यलोक से विलक्षणता अमृतत्व में कैसे आएगा पुण्यलोक वाले भी तो वही देवलोक आदि है तो उसमें अमृतत्व है ही है कैसे विलक्षण होगा समझाए आत्यंतिक उनके लिए आपेक्षिक है इसके लिए निरपेक्ष है आत्यंतिक है वो उनके आपेक्षिक है उनका ठीक है तस्य आपेक्षिकत्व अभाव है जो मुख्य अमृतत्व है उसमें आपेक्षिकत्व नहीं है निरपेक्ष है ये तो महा पुण्यलोकात इत्यादि कहा पुण्यलोकात पृथक अमृतत्व से विभाग कर रहा कहा पुण्यलोक से अलग अमृतत्व का कथन करने से सिद्ध होता है ठीक है अमृतत्व से पुण्यलोकात पृथक विभाग करना तथो अन्यवाद आत्यंतिक सिद्धि योजना योजना लगाना कहा पहले पहले देना था बाद में आ गया जो अमृतत्व है ब्रह्मशास्त्र अमृतत्व वेती वाला जो अमृतत्व है वहां पुण्यलोक का पृथक विभाग कर रहा पुण्यलोक से अलग विभाग किया है इसको इसलिए पुण्यलोक वाले से अलग किया था तो अन्यत्व पुण्यलोक से अलग है ये आत्यंतिक सिद्धि इसलिए उसके भिन्न है तो आत्यंतिक सिद्धि होगी ये योजना लगाने कहा उत्तम एवं अर्थम व्यतिरिक मुखे में साधयती ये जो बताया गया अर्थ है और व्यतिरिक दृष्टांत के द्वारा सिद्ध करते हैं क्या यदि च इत्यादि कहा यदि च पुण्यलोक अतिशय मात्र अमृतत्व अविष्यत यदि एक ही अमृतत्व होता पुण्यलोक अतिशय प्राप्त करना मात्र ही अमृतत्व होता तथा पुण्यलोकत्वाद विभक्तम ना बक्षत फिर पुण्यलोक से अतिरिक्त अमृतत्व को कथन नहीं करना चाहिए था या अतिरिक्त कथन विभक्त उपदेशाच भिन्न उपदेश किया है अमृत पुण्यलोक से अलग अमृतत्व के कथन किया है यहां आत्यंतिकम अमृतत्व गम्य थे इसलिए निरपेक्ष अमृतत्व अपेक्षित अनापेक्षित अमृतत्व जाना जाता है कहा अत्र आश्रम धर्म फल उपन्यास प्रणव स्वात उत्तर यह जो आश्रम धर्म का फल का उपन्यास किया रखा गया यहाँ सर्वेते पुण्य लोगा भवंती इत्यादि जो आश्रम धर्म का उपन्यास है ये तीनों आश्रमियों को पुण्य लोग मिलते हैं बोल दिया तो यहाँ अत्र इस मंत्र में मंत्र मानी इस अस्मिन मंत्र इस मंत्र में आश्रम धर्म फल उपन्यास आश्रम धर्म का फल का कथन कर दिया आश्रम धर्म का पालन करने वाले के लिए क्या मिलेगा पुण्यलोक मिलेगा फल का कथन किया ये फल का उपन्यास किसके लिए प्रणव सेवा स्तुत्यर्थ प्रणव उपासना के प्रशंसा के लिए है यहाँ इसमें तात्पर्य नहीं है आश्रम धर्म के फल कथन करने में तात्पर्य नहीं है प्रणव की उपासना की प्रशंसा में तात्पर्य वाक्य ये बोलते हैं ये उपन्यास जो है प्रणव सेवास्तुत्यर्थम प्रणव की जो उपासना है सेवा उपासना उसकी स्तुति प्रशंसा के लिए है न तब फल विद्यार्थम आश्रम धर्म का फल विधान के लिए तात्पर्य नहीं है वाक्य का एक ही वाक्य है वह तो प्रणव की उपासना की स्तुति के लिए है प्रशंसा के लिए है स्तुत प्रणव सेवाया आश्रम धर्म फल विधेय ही भिद्यते भाग्य यदि दो मानेंगे ये जो वो आश्रम धर्म का उपन्यास जो किया गया है आश्रम धर्म का फल का उपन्यास कि आश्रम धर्म प्रणव की सेवा के उपासना के लिए भी है उपासना की स्तुति के लिए भी है आश्रम धर्म के फल के लिए भी दोनों मानेंगे तो वाक्य भेद होगा दो वाक्य बनाना पड़ेगा ये, वाक्य भेद करना ठीक नहीं होता ये कहा अत्र आश्रम धर्म फल उपन्यास प्रणव शिवास्तुत्यर्थम न तत्फल विद्यार्थम कहा ये इस मंत्र में जो आश्रम धर्म का फल का उपन्यास किया गया रखा गया है प्रणव की उपासना की प्रशंसा के लिए है न तत्फल विद्यार्थम आश्रम धर्म के फल के विधान के लिए नहीं है वाक्य क्यों स्तुत प्रणव सेवाया उस प्रणव की उपासना की स्तुति के लिए भी मानना और आश्रम धर्म फल विधेयच और आश्रम धर्म के फल के लिए भी मानना विधान के लिए मानना हो तो विद्यते ही वाक्य वाक्य भेद हो जाएगा तस्मात इसलिए क्या कहना स्मृति सिद्ध आश्रम फलानुवाद है आश्रम धर्म का फल स्मृतियों में सिद्ध है उसका अनुवाद करता है वाक्य हाँ। सर्वे थे पुण्यलोका भवंती काया स्मृतियों में प्रसिद्ध है कि ऐसे ऐसे अपने आश्रम का धर्म पालन करने वाले पुण्यलोक मिलता है स्मृति में सिद्ध जो बात है पुण्यलोक श्रवण है उसका यह अनुवाद करता है वाक्य तस्मात स्मृति सिद्ध आश्रम फलानुवाद है ना स्मृति में सिद्ध जो आश्रम है आश्रम का फल है आश्रम धर्म का फल का अनुवाद ये मंत्र में किया है सर्वे ते पुण्य लोका भवन ये अपूर्व विधान नहीं है ना तो वाक्य वेद हो जाएगा प्रणव सेवा फलम अमृतत्व गुरुवन प्रणव के उपासना का फल अमृतत्व है एक स्तुति प्रणव सेवाम स्तौति प्रणव उपासना की स्तुति करती है प्रशंसा करती है वाक्य माने आश्रम धर्म को बताने में तो अनुवाद है क्या कर माने स्मृति विसिद्ध है आश्रम धर्म का फल उसका अनुवाद करके बोला स्थिति है यथा पूर्व पूर्ण ब्रह्म सेवा भक्त परिधान मात्र फल राजवर्मणस्तु सेवा राजतुल्य फला तद्वत ऐसे कहते हैं जैसे देखो जैसे पूर्व बर्मन नाम का एक व्यक्ति है पूर्ण बर्मन पूर्व पूर्ण ब्रह्मा नाम का व्यक्ति है उसकी सेवा केवल भात और वस्त्र मिलना और कुछ नहीं भक्त भात खाना और पहनना दो ही फल मिलना है हाँ, ये छोटा फल है ये दिखाना है और एक राजवर्मा है राजवर्मा नाम है उसके फल क्या होगा कहते हैं राजतुल्य फल वो राजा के समान बनाने के है उसकी सेवा करेंगे तो राजा बना देगा राजा के समान बना देगा ऐसे कहने के लिए माने केवल आश्रम धर्म का पालन करोगे तो ये छोटे से फल पर रह जाओगे हम्म। और प्रणव की सेवा करोगे उपासना तो अमृतत्व तो प्राप्त करो ये फल बताना है ये दिखाने के लिए वाक्य ने कहा यथा माने यहां पर छोटे फल के लिए विधान नहीं होता है बड़े फल की स्तुति के लिए होता है यथा पूर्व ब्रह्मणा फल सेवा जो पूर्व पूर्व पूर्ण बर्मा नाम का व्यक्ति है उसकी सुसेवा भक्त परिधान मात्र फला भक्त माने भात और परिधान वस्त्र अन्न वस्त्र की मात्र के लिए फल है वो बाकी कुछ नहीं देता खाना देता कपड़ा देता बस इतने पूर्ण ये पूर्ण ब्रह्म की सेवा इतनी होगी और राजवर्मणस्तु राजवर्मा नाम का व्यक्ति है उसकी सेवा तो राजतुल्य फला राज्य तुल्य फला राज्य के समान फल मिलेगा जैसे राजा का राज्य उसी प्रकार फल मिल जाएगा इसका मतलब क्या है यहाँ पूर्ण ब्रह्म की सेवा करना ठीक नहीं है राजब्रह्म की सेवा करना अच्छा ये इसमें तात्पर्य रखता है इस प्रकार यहां भी आश्रम धर्म का पालन करके जो फल बताया वो फल के लालच में नहीं रहना चाहिए माने ये आश्रम धर्म के इतने मात्र से बैठोगे तो केवल इतना ही फल मिल जाएगा अपेक्षिक अमृतत्व तो मिलेगा और यदि प्रणव की सेवा करोगे तो निरपेक्ष अमृतत्व तो पाओगे उसकी स्तुति के लिए वाक्य है ये बताया टिप्पणी है ना भक्त परिधान मात्र फला भक्तम अन्नम परिधानम भाषण भक्त माने अन्ना और परिधान माने वस्त्र अन्न वस्त्र फल वाला है वो और राजवर्मा की जो सेवा होगी राज्य तुल्य फल होगा उसमें उसकी स्तुति में तात्पर्य प्रशंसा में तात्पर्य रहता है बाकी इसी प्रकार यहां भी ओंकार की उपासना की स्तुति के लिए तात्पर्य रखता है बाक्य ऐसा कहा तद्वत का प्रणवश्य और प्रणव जो है ऐसा फल दे सकता है अमृतत्व तो दे सकता है कैसा तत्सत्यम परम ब्रह्म तत्प्रतीक वो सत्य जो परम ब्रह्म है ना उसका प्रतीक है उनका इसलिए अमृतत्व देने में सामर्थ्य है जो तत्सत्यम परम ब्रह्म जो सत्य परम ब्रह्म है जो सत्य त्रिकालावादी सत्य मानते परम ब्रह्म कहते हैं उस परम ब्रह्म का एक प्रतीक है कौन प्रणव इसलिए इसकी प्रशंसा के लिए वाक्य है एक क्योंकि कठोपनिषद में कहा है एक देवाक्षरम ब्रह्म एत देवाक्षरम परम एत देवाक्षरम ज्ञातवा ब्रह्मलोके महिला यो ये ये क्षति सत्यता ऐसा है ही एवं अक्षरम ब्रह्म जो अक्षर ब्रह्म कहते हैं यही तो है कौन ओंकार एतद ही तद अक्षरम ब्रह्म अक्षर ब्रह्म यही है तद ही अक्षरम परम यही पर अक्षर यही है ऐसा है इति आमना आमनानाथ पाठके कठोपनिषद में ऐसा कथन है युक्तम तत्सेवा तो अमृत इसलिए ओंकार की सेवा से अमृत मिल रहा है क्यों प्रतीक है परमात्मा का प्रतीक है ये ओंकार इसलिए ओंकार की सेवा वाले ओंकार की जब करने से वो मिलेगा परमात्मा अमृतत्व मिलना है एक टीका से ब्रह्म शब्द से यथाश्रुतम मुख्यम अर्थम गृहित पर ब्रह्मात्मना साक्षात्कार हो तो निरंकुशम अमृतत्व मुक्तम ब्रह्म शब्द जैसा सुनाई पड़ता है बृद्धि वृद्ध धातु से बृह वृद्धौ धातु से होता है ब्रह्म व्यापक तत्व को ब्रह्म कहा जाता है सबसे बड़ा उसको ब्रह्म कहा जाता है ब्रह्म शब्द से यथाश्रुतम मुख्यम अर्थ जैसा सुनाई पड़ा मुख्य अर्थ है ब्रह्म का गृहित्व ऐसा लेकर के पर ब्रह्मात्मना साक्षात्कार हो तो पर ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करे हम ब्रह्माष्टमी पहुंचा हुआ जो व्यक्ति होगा पर मान मनुष्य रूप से साक्षात्कार नहीं है पर पर ब्रह्मात्मना साक्षात्कार पर पर ब्रह्म स्वरूप से साक्षात्कार किया हुआ जो व्यक्ति उसका निरंकुश अमृतत्व तो, तो उसके निरंकुश अमृतत्व की प्राप्ति होगी बता दिया ब्रह्मशास्त्र तो अमृतत्व व्यक्ति ब्रह्म शब्द का अर्थ मुख्य अर्थ लेकर के कहा प्रकरण आलोचना या तो यहाँ प्रकरण का जो तो आलोचना करते हैं तो यहाँ ओंकार का प्रकरण चल रहा अभी वो ब्रह्म की प्राप्ति कैसी होगी ओंकार का प्रकरण है प्रकरण आलोचना या तो प्रकरण का विचार करने से तो प्रणव प्रतीक ब्रह्म उपासक प्रणव रूपी प्रतीक में ब्रह्म का उपासना करने वाला जो व्यक्ति होगा ओंकार में ब्रह्म दृष्टि करके ओंकार की उपासना कर रहा है प्रणव प्रतीक ब्रह्म उपासक प्रणव प्रतीक में ब्रह्म की उपासना करने वाला जो व्यक्ति है उसका क्रमेण अमृतत्व साक्षात अमृतत्व तो नहीं होगा क्रम से होगा क्रम मुक्ति होगी उसकी क्रमोपासक की मुक्ति क्रम मुक्ति होगी साक्षात्कार कर चुका है उसके लिए सद्यो मुक्ति होगी और केवल प्रभु को उपासना करता है तो क्रम मुक्ति ये कहा ये भेद है ये कहा ब्रह्म शब्द से यथाश्रुतम मुख्य गृहत्व ब्रह्म शब्द ब्रह्म शस्त्रो अमृतत्व में ब्रह्म शब्द का तो मुख्य अर्थ लिया मुख्य अर्थ करने से क्या होता है पर ब्रह्मात्मना था जिसने परमात्म रूप से साक्षात्कार किया है हम ब्रह्माष्टमी में पहुंचा हुआ है ऐसे व्यक्ति को निरंकुश अनुसूचित होता है तो उसके लिए निरंकुश अमृत बता दिया प्रकरण आलोचना या तो प्रकरण जब देखते हैं तो ओंकार का प्रकरण चल रहा है यहाँ इसलिए प्रणव प्रतीक है ब्रह्म उपासक प्रणव रूपी प्रतीक में ब्रह्म की उपासना करने वाला जो व्यक्ति होगा उसका क्रमेण अमृतत्व क्रम से अमृतत्व की प्राप्ति क्रम मुक्ति होगी भेद बुद्धि अनपायात द्रष्टम क्यों भेद बुद्धि उसकी रह गई अभी तब ओंकार की जो उपासना कर रहा है उसकी भेद बुद्धि गई नहीं इसलिए क्रम से होगी और भेद बुद्धि समाप्त जिसको हो गई है मुख्य रूप ब्रह्म में है वो तो यही मुक्त हो जाएगा ठीक है ओंकार की उपासना करने वाले के भेद बुद्धि अनपायात भेद बुद्धि गई नहीं है दृष्टि में मैं बता कर्मिणाम अंतवत अभिधान है कर्मियों का जो फल होता है अंत वाला होता है विनाशी फल होगा अभिधान है ना तन निंदा कर्मियों की निंदा के द्वारा जो कर्म का फल विनाशी है इसलिए उन कर्मियों की निंदा के द्वारा ब्रह्म संस्थता तुति दर्शनार्थ ब्रह्म की तुति की या प्रशंसा की है इसके विनाशी फल नहीं होगा अविनाशी फल होगा ब्रह्म को तस्याश्च और जो तुति होती है विद्यर्थत्व किसी की प्रशंसा करते हैं तो आगे विधान के लिए होता है तस्याश्च मैंने तुते है स्तुति का विद्यर्थत्व विधि के लिए स्तुति की जाती है प्रशंसा किसी के कर आगे कुछ काम करना उसे तस्याश्च विद्यर्थत्व मैंने स्तुति किसके लिए तो विधि के लिए जो अमृतत्व काम हो ब्रह्मशास्त्र ये स्तुति की कल्पना करना क्या स्तुति करना अमृतत्व काम हो ब्रह्मशास्त्र यदि अमृतत्व चाहता हो चाहने वाला व्यक्ति ब्रह्म में सम्यक प्रकार से स्थित हो जाए बस देहभाव को छोड़ करके ब्रह्म भाव में बैठे यदि अमरत्व तो चाहता हो तो यह अर्थ आएगा अमृतत्व काम ब्रह्म सस्त ये श्रुति की कल्पना करे अमृतत्व चाहने वाला व्यक्ति ब्रह्मशस्त्र हो जाए एकार्थ परत्वार एक इदम वाक्य में इसलिए एक ही वाक्य है ये दो वाक्य नहीं है कहा क्या अत्र इत्यादि कहा था आश्रम तरफ फल उपन्यास प्रणव शिवास्तम न तद फलम इत्यादि विद्यार्थम कहा यहाँ पर जो आश्रम धर्म का फल का कथन किया वो प्रणव की उपासना की प्रशंसा के लिए है वो आश्रम धर्म के फल कथन में तात्पर्य नहीं रखता इत्यादि बता समय हो गया है फिर करेंगे सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मोहां ब्रह्म ब्रह्म निराकरोद निराकरणवस्तु निराकरणं मे अस्तु परात्मनिरते औपनिषत्सु हे मयि सन्तु ॐ शान्ति